कह दो कि तुम्हें मौत का वो फरिश्ता पूरा पूरा वसूल कर लेगा जो तुम पर मुकर्रर किया गया है फिर तुम्हें वापस तुम्हारे परवरदिगार के पास ले जाया जाएगा